केन उपनिषद के द्वितीय मंत्र का पदभाष्य कुछ बाकी है अतः श्रोत्रादि श्रोत्रादि लक्षण ब्रह्मात्मेति विदित्वा यही एक श्रोत्रादि ही आत्मभाव अच्छा टीका में श्रोत्रादि आत्मभाव त्याग मंत्रेण अमृतत्व संभवात् श्रोत्रादि में अहम बुद्धि के त्याग के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है ज्ञान बला श्रोत्रादि आत्मा भावं त्यक्त्वा ज्ञान के सामर्थ्य से अनात्म में आत्म बुद्धि का त्याग श्रोत्रादि में अहम बुद्धि का त्याग करके अमृता भवन्ति एतत् स्फुटयति इसका स्पष्टीकरण आगे श्रोत्रादो ही आत्मभावं कृत्वा तत् उपाधिसं तदात्मना जायते म्रियते संसरति च श्रोत्र आदि इंद्रिय में मन में प्राण में देह में आत्मबुद्धि हम बुद्धि करके तदुपाधि ही तदुपाधिक ये सब उपाधि श्रोत्र इंद्रिय मन बुद्धि प्राण देह आदि तदुपाधिक उपाधिक होता हुआ तदात्मना जायते मियते संसर्जिति च तदात्मना इसी तद्रूप होकर के मनुष्य आदि रूप जन्म होता है देखना सुनना सोचना प्राणन व्यापार करना जन्म होता है मरता है संसार को प्राप्त करता है अतो श्रोत्रादे श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्मात्मेति विदित्वा अतिमृत अतिमुच्य श्रोत्रादि आत्मभावं परित्यज्य ये श्रोत्रादि आत्मभावं परित्यजन्ति ते धीरा धीमन्तः श्रोत्रादि श्रोत्रादि लक्षणम ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप होता है श्रोत्र का श्रोत्र चक्षु का चक्षु मन का मन प्राण का प्राण श्रोत्र आदि में जो श्रवण आदि सामर्थ्य उसका जो निमित्त कारण जिसके कारण ये सामर्थ्य है वही सत्र से सत्र आदि स्वरूप ब्रह्म वही ब्रह्म ही आत्मा है सो अहम अस्मि वही ब्रह्म अहम इति विदित्वा ऐसा जान करके ब्रह्म का ज्ञान जब ज्ञान होगा अहम अस्मि करके इदम तद असो ऐसा नहीं अहम अस्मि एक सर्वस्य आत्मा सर्वम ब्रह्म तो अहम ब्रह्म ऐसे विदित्वा अतिमुच्य अतिमुच्य का मुचलि मुचन त्याग करके अतिशयन मुक्त्वा श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यज्य यही त्याग है श्रोत्रादि में जो आत्मभाव आत्मत्वम अहम अहंता अहम श्रुणमि अहम सोचामि ये सब अहम बुद्धि आत्मभाव उसका त्याग यही आत्मज्ञान का बल सामर्थ्य आत्मज्ञान होने पर अनात्मा में आत्मबुद्धि का त्याग ये आत्मज्ञान का बल सामर्थ्य है नायम आत्मा बल ही न लभ्य बल का अर्थ क्या अनात्मा तिरस्कार आत्मज्ञान होने पर अनात्मा में आत्मबुद्धि का त्याग ये छोड़ करके ये श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यजन्ति ते धीर आदिमंत वही धीर होते हैं बुद्धिमान वही अतिमुच्य धीरा त्याग करके धीर जो आदि में आत्मत्व का त्याग करते हैं परित्यजंती अहम बुद्धि का त्याग करते अनात्मा है मेरा आदि इंद्रिय है मेरा मन है मेरा प्राण है मदियम मन मध्यम मदिया बुद्धि मदियम शरीर मदियम अज्ञान जो मध्य मेरे मेरे में जाने जाते हैं वो अपने से भिन्न है तत्व बुद्धि में बताते तद यथा कटक कुंडल गृहादिकम कुंडल गृह आदि सब मध्य मध्य करके जाने जाते हैं आत्मा से भिन्न है वो आत्मा नहीं है इसी प्रकार स्थूल शरीरम सूक्ष्म शरीरम कारण शरीर पांच कोशम और मध्य मध्य मेरे तो मेरे से भिन्न है तो उसमें जो अहम बुद्धि अहंता उसका त्याग ये अनात्म जो आत्मबुद्धि का त्याग ते ही धीरा ते धीरा वही धीर है धीमंत है विवेक का विचार नहीं करने पर समझ में आता है मेरा मैं नहीं हूँ तो भी उसमें अहम बुद्धि मैं मनुष्य हूं मैं अहम पश्यामि अहम श्रेणोमि ये अहम बुद्धि उसका त्याग यही परमहंसत्वम आत्मा अनात्मा विवेक करके अनात्मा में आत्मबुद्धि त्याग करना बार-बार विचार करके अभ्यास बहुत करना पड़ता है समझे में आ गया फिर भी उसमें अहम बुद्धि करते रहे तो इतने मात्र से खाली समझने से नहीं होता है अनादिकाल से वासना इतनी दृढ़ है समझ में आता है आत्मा नहीं तो भी उसमें हम बुद्धि है मैं मनुष्य विचार कर देखे मैं मनुष्य बुद्धि है अथवा नहीं मैं ब्रह्म तो कहते हैं किंतु मनुष्य है या नहीं और इधर अपने शरीर की तरफ हम बुद्धि आते हैं हम कहते समय इधर आए या नहीं ब्रह्म तो व्यापक है मैं ब्रह्म कहते समय मैं कहते समय इधर शरीर की तरफ यही अहम बुद्धि है उसका त्याग बार-बार विचार करने से त्याग होता है तब तो वही बुद्धिमान है बुद्धिमत धीमंत बहुवचन है धीमान धीमंतो धीमंत नहीं विशिष्ट धीमत्वम अंतरेण श्रोत्रादि आत्मभाव सक्य परित्यक्तम ऐसे विशिष्ट धीमत्व विशिष्ट बुद्धि विशेष बुद्धि के बिना यही विचार करके समझ में आता है किंतु समझ में क्या आया दृढ़ हो जाए तो देहादि में अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए देहादि में अहम बुद्धि है तो ये जब तक ऐसे विपरीत बुद्धि वासना के कारण है तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए बार-बार अभ्यास करने से निश्चय होता है विशिष्ट बुद्धिमत्व के बिना श्रोत्र आदि में आत्मा भाव परित्यक्त नहीं सक्यम सरल से नहीं छूटता है समझ में आ जाता है फिर भी आत्म भाव आत्मत्वम अहम बुद्धि है इसका त्याग ही अध्यास अनादि काल से है उसका ही त्याग करना ही परित्याग सबसे बड़ा त्याग ही है देहादि में असंगतम अहम बुद्धि का त्याग प्रेत्य का अर्थ व्यावृत्य अस्मालोकात पुत्र मित्र कलत्र बंधुसु ममाहम भाव संव्यवहार लक्षणात तक्त सर्वेषणा भूते इत्यर्थ प्रत्यय के व्यावृत्य ये सब को छोड़ करके अस्मालोकात इसलोक पुत्र मित्र कलत्र बंधु पुत्र मित्र कलत पत्नी बंधु जितने प्रिय है समय अहम बुद्धि मम अहम भाव ममत्व रहंतो ममत्व तो मेरे मेरे और कहीं अहम भाव इतने तादात में हो जाता तो मैं ही पुत्र मर गया तो मैं मर गया पुत्र दुख तो मैं दुखी देह में तो हम भाव है ही ये सब कुछ छोड़ना संव्यवहार लक्षण ही अस्मा लोकादि ही लोक है अस्मा लोकादि व्यवहार मम अहम भाव व्यवहार स्वरूप जो लोक उससे हट कर छोड़ करके अर्थात देह आदि में सब पितर मित्र धन बंधु सब में ममत्व बुद्धि का त्याग इसका अभिप्राय त्यक्त सर्वेषणा भूत्वा त्यक्त सर्वेषणा भूत्वा हां बहुवचन है अमृता भवन्ति त्यक्ता सर्वेषणा यही ते त्यक्त सर्वेषणा त्यक्ते सर्वेषणा होकर के अमृता भवन्ति अमृता अमरण धर्मान भवन्ति अमरण धर्म येषां ते अमरण धर्मान धर्म सद अदंत है धर्म धर्म धर्मा किंतु समास करने पर धर्माद अनिच केवलात अनिच समासांत हो जाता है अमरण धर्मा अमरण धर्माणु अमरण धर्मान अमरण धर्म वाले हो जाते हैं अर्थात हम मरण को प्राप्त नहीं करते मृत्यु रहित हो जाते हैं मृत्युंजय हो जाते हैं न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे तो अमृतत्वमानसु ना कर्म से ना प्रजापुत्र धन से ना धन से नहीं केवल त्याग से ही तत्व को प्राप्त किया परांची खानी व्यतन स्वयंभू खानी का अर्थ इंद्रिय को पराग अंचति थी परांची बाहर की रूप बना दिया व्यत्रिणत त्रिहु हिंसाम धातु का ब्रह्मा जी ने व्यतन स्वयंभू तस्मा परां पश्यति नांतरात्मन सब बाहर देखे तो अंतरात्मा को नहीं कश्चित धीर प्रत्येक आत्मान विषय कोई धीर होता है जो यही सूत्र आदि में हम बुद्धि त्याग करता है आवृत चक्षुर अमृतत्वशन चक्षु उपलक्षण है सब इंद्रियों को रोक करके विषय से हटा करके अमृतत्व मिशन अमृतत्व मोक्ष की इच्छा करता हुआ कोई धीर प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय सहृदि स्थिता अथमर्त्य अमृत भवते अत्र ब्रह्म समस्नुते यदा सर्वे प्रमुच्यते कामाय जितने वासना सब नष्ट हो जाए हृदय बुद्धि में स्थित काम जितने कामना इच्छा सब त्याग कर मुक्ति प्रकर्षण मुच्यते प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थमनुगतान भगवान भी कहते हैं सारे वासना का त्याग इच्छा का त्याग तब अथमर्त्य अमृत होती अत्र ब्रह्म समस्नुते यही जीते जी ब्रह्म प्राप्त कर लेता है प्राप्त सम्यक स्मृति प्राप्त करना कि अज्ञान निवृत्त हो गया नित्य प्राप्त है प्राप्त की प्राप्ति ज्ञान मात्र से गौण प्रयोग है प्राप्त करता है अप्राप्ति भ्रम निवृत्त हो जाता है तो प्राप्त करता है इसे शब्द प्रयोग हो जाता है ये श्रुति प्रमाण है अमृता भवंती इसमें प्रमाण यहाँ प्रेत्य का अर्थ क्या व्यावृत्य अथवा अतिमुच्य धीरा में जो अतिमुच्य आया श्रोत्र आदि में आत्म भाव त्याग करके अतिमुच्य शब्द से भी सब का ऐसणा का त्याग भी आ जाएगा तो अथवा अतिमुच्य इति अनेनेव त्याग से सिद्धत्वात् सब चा त्याग करके श्रोत्र आदि में आत्म भाव त्याग कर दे ऐसणा का त्याग कर दे सब यदि ऐसणा त्याग भी अतिमुच्य शब्द से आ गया तो प्रत्यय का अर्थ यहाँ व्यावृत्त जो अर्थ किया था वो नहीं प्रत्यगार्थ मृत्वा क्योंकि वेषणात्र त्याग प्रत्यय शब्द से कहा गया अतिमुच्य शब्द से वेषणात्र त्याग यदि हो गया तो प्रत्यय शब्द से सामान्य मार करके प्रत्यय अतिमुच्य इति अतने वेषणात्र त्याग से सिद्धत्वाद अस्मा लोकात प्रत्यय अर्थात अस्मा अस्मात् शरीरात प्रत्य मृत्यु इत्यर्थ मर करके अमृत भवति मर करके अमृत होते का अर्थ टीका में दिया विदेह मुक्ति विवक्षिता जीते जी मुक्त है तो जीवन मुक्त और मर करके जो मुक्त होते विदेह मुक्ति विदेह कैवल्य मुख्य तो ही है प्रारब्ध समाप्तन से विदेह कैवल्य देह रहित होगी वस्तुतः देह तो है ही नहीं किंतु देह के साथ तादात्म्य भाव करके अनादिकाल से संसारी है ज्ञान हो जाने पर अज्ञान नष्ट हो गया तभी जब तक तो प्रारब्ध है तब तक ले सविद्या की अनुभूति प्रारब्ध कर्म का कारण स्वल्प विद्या रहती है संस्कार रूप से तभी देहादि में अहम बुद्धि विचार विचार करना यात्रा स्नान आदि करना व्यवहार करना प्रारब्ध कर्म के कारण होता है वो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने पर विदेह का को प्राप्त कर लिया प्रारब्ध भोक्षे तस्य तावदेव चिरम याव न विमुक्षे अथ संपत्ति चांदोगी में कहा ज्ञान होने के बाद भी इतने विलंब है जब तक तो प्रारब्ध समाप्त नहीं हो प्रारब्ध समाप्त होने पर ब्रह्म को साथ एक हो जाता है प्रारब्ध भोक्षे होकर मरने के बाद फिर क्यों जन्म नहीं लेता है जात से ध्रुव मृत्यु जन ध्रुवम जन्म मृत से जो मरने पर जन्म होगा जन्म होने के लिए खाली मरने मात्र से जन्म नहीं अज्ञान काम कर्म सो रहता है तो जन्म होता है ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो गया तो शरीरांतर उत्पादे कारण भावात अन्य शरीर की उत्पत्ति के लिए मरने के बाद कारण अज्ञान कर्म नहीं रहा अवश्य भाविनी विदुष मुक्ति इत्यर्थ विदुष विद्वान की मुक्ति अवश्य भाविनी ज्ञान होने के बाद अवश्य ही मुक्ति है विदेह मुक्ति है पदभाष्य द्वितीय मंत्र का हो गया अभी वाक्य भाष्य देखना सत्र प्रश्न में श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम ये संग्रह वाक्य हुआ संग्रह संक्षेप से कहा गया प्रश्न किया केने सीतम इत्यादि उसका उत्तर दिया श्रोत्र से श्रोत्र इत्यादि मंत्र के द्वारा तो सूत्र से शत्रम इत्यादि प्रतिवचन ये उत्तर है निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम निर्विशेष ब्रह्म है निमित्तत्वम अर्थो यस्य निमित्तत्व निमित्तत्व है इसका अर्थ स तो निर्विशेष ब्रह्म निमित्त है निर्विशेष में निमित्तत्व है निमित्तत्वम अर्थो यस्य अर्थ का तभी वाच्य उत्तर का अर्थ उत्तर का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म निमित्त होता है निर्विशेष ब्रह्म में निमित्तत्वम श्रोत्रादि में जो सवर्ण सामर्थ्य है उसका निमित्त है ब्रह्म इसके लिए उत्तर दिया ठीक टीका में प्रतिवचन वाक्यार्थ संग्रहम विवृणति प्रतिवचन वाक्य का अर्थ का संग्रह प्रतिवचन वाक्य है श्रुत्र से आदि द्वितीय मंत्र वाक्यार्थ का संग्रह संक्षेप है ये संग्रह वाक्य श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम निर्विशेष निमित्तत्वार्थम ये संग्रह का विवरण व्याख्यान करते भगवान भाष्यकार विक्रियादि विशेष रहित आत्मनो मनादि प्रवृत्तो निमित्तत्वम इति एतत् श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचन से अर्थ श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि जो प्रतिवचन उत्तर है द्वितीय मंत्र उसका अर्थ विक्रिया रही विक्रियादि रही विशेष रहित से आत्मन विक्रिया गुण क्रिया जाति धर्म कुछ नहीं विशेष रहित से विकार विकार नहीं आदि शब्द अन्य विशेष गुण जाति आदि रहित से आत्मन निर्विशेष आत्मा कोई विकार नहीं कोई गुण नहीं कोई धर्म नहीं कुछ नहीं निर्विशेष है आत्मन आदि प्रवृत्त निमित्तत्वम आदि प्रवृत्ति में आत्मा निमित्त है सन्निधि मात्रेण विकार के बिना प्रयत्न के बिना निर्विशेष होता हुआ भी मन आदि मन इंद्रिय आदि प्रवृत्ति के लिए निमित्त है आत्मा में निमित्तत्वम इति एतत यही स्वत्र से में इत्यादि उत्तर का अर्थ है आत्मा निमित्त है आत्मा के कारण आत्मा के सन्निधि मात्र से जड़ मन आदि में प्रवृत्ति होती है विषय ग्रहण आदि होता है इत्यादि प्रतिवचन से अर्थ टीका में मनादिना यह प्रवर्तक सकिम विशेष इति प्रश्नस्य निर्विशेषतेव विशेष उत्तरम मनादि का जो प्रवर्तक है मनादि में तो प्रवृत्ति होती है मनादि प्रवृत्त होते हैं उसका प्रवर्तक कौन है किसके कारण मनादि नहीं चाहता है इधर-उधर भागता है स विशेष को विशेषो यस्य स विशेष क्या विशेष वाला उसमें क्या विशेष है उसको कैसे जानेंगे किसी व्यक्ति को जानने के लिए विशेष कहा जाता है धर्म होता है जो असाधारण स्वरूप धर्म कहने से उसका ज्ञान होगा जो प्रवर्तक है उसमें क्या विशेष है इति तो प्रश्न से उत्तर है यही विशेष है क्या विशेष है निर्विशेषता विशेष अभाव ही विशेष बाकी सब में विशेष है एक ब्रह्म निर्विशेष ही है निर्विशेषता एवं विशेष अन्य पदार्थ के अपेक्षा ब्रह्म में क्या विशेषता है निर्विशेषता निर्विशेषता निर्गता विशेषा यत तत निर्विशेषम तस्य भाव निर्विशेषता निर्गता मतलब निकल गए पहले थे चले गए ऐसा नहीं हां मन अज्ञान से आरोप करते थे आरोप नष्ट हो जाता है निर्विशेष का अर्थ विशेष रहित कोई विशेष नहीं सब विशेष का अभाव जितने विशेष नाम रूप जाति गुण क्रिया संबंध सब वो अज्ञान के कारण सविशेष कल्पित पदार्थ में शुद्ध में कोई विशेष नहीं निर्विशेषता ही विशेष यही विशेष है इति उत्तरम क्रियाया गुणस्य संबंध सेवा विशेषच व्यावर्तक धर्मस्य दर्शयितुम अशक्यत्वात् निर्विशेषता क्यों विशेष क्योंकि कोई अन्य विशेष है ही नहीं सब विशेष का अभाव है अन्य क्या विशेष हो सकता है जैसे कुठार रथ आदि में क्रिया है गुण है नीलम रक्तम उत्पलम इत्यादि में संबंध है दंडी इत्यादि क्रियाया गुणस्य संबंधस्य वा विशेषस्य वो विशेषता व्यावर्तक धर्म इतर व्यावर्तक धर्म एक चलता है एक खड़े है एक नीलम पीतम एक दंडी एक कुंडली ये सब धर्म होता है व्यावर्तक धर्म विशेष धर्म कहा जाता है विशेष व्यक्ति को जानने के लिए ये जो व्यावर्तक धर्म क्रिया गुण जाति संबंध आदि शुद्ध ब्रह्म में कुछ भी नहीं है दर्शयितुम अशक्यत्वाद वहां कुछ दर्शयितु कहता है तुम ज्ञान नहीं करा जा सकता है शुद्ध ब्रह्म में कोई विशेष है ही नहीं क्यों नहीं यदि क्रिया आदि मत्व मानेंगे क्रिया गुण संबंध आदि मानेंगे तो घट जैसे है इस प्रकार अनित्य हो जाएगा अनात्मा हो जाएगा घटादिवत अनात्मा तो प्रसंगाद घटादि अनात्मा जिसमें क्रिया गुण संबंध आदि विशेष है सब अनात्मा है आत्मा में कोई विशेष नहीं विशेष मानेंगे तो अनात्मा हो जाएगा अतो निर्विशेष चैतन्य आत्मा को हम इतेवम ज्ञानम सम्य ज्ञानम तो सम्य ज्ञान ही है निर्विशेष चैतन्य आत्मा को हम अहम निर्विशेष चैतन्यात्मक क्योंकि सूत्र आदि का जो प्रेरक होता है वही आत्मा है तो वही प्रेरक होता है निर्विशेष चैतन्य स्वरूप वही हम निर्विशेष चैतन्य आत्मा को हम यह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है अहम पश्यामि हम सोचामि हम जन संसारी हम करता हम भोगता ये ज्ञान सब आविद्य मिथ्या ब्रह्म निर्विशेष चैतन्य आत्मा को हम ये सम्य ज्ञान है निर्विशेष का अर्थ विशेष रहित विशेष रहित जो वायु रूप रहित है वायु क्या है रूप रहित वायु में रूप रहितत्वम रहेगा रूप रहितत्व का अर्थ क्या होगा अभाव रूप रहित में जो धर्म रूप रहितत्वम रूपाभाव तो वायु में अभाव है ब्रह्म निर्विशेष होता ब्रह्म में क्या रहेगा विशेष का अभाव विशेष का अभाव ब्रह्मते तो के है ही और विशेष अभाव ब्रह्म में रहेगा ब्रह्म और विशेष अभाव तो अभाव एक पदार्थ मानेंगे तो सद्वितीय हो गया ब्रह्म अद्वितीय कैसे बनेगा एक में बाद द्वितीय ब्रह्म अद्वितीय का था ब्रह्म में और कुछ भी नहीं हां विशेषता नहीं सब विशेष का निराकरण कर दो तो विशेष अभाव नामक पदार्थ आ गया अभाव एक पदार्थ है या नहीं हाँ, वैशेषिक मत में सात पदार्थ में अभाव एक पदार्थ दो विभाग कर दिया पदार्थ के भाव और एक अभाव भाव छह प्रकार अभाव चार प्रकार इसे वैशेषिक मत में विभाग करते हैं तो भाव नहीं तो अभाव हो जाएगा अभाव से सद्वैत प्रसंग सिद्धांत उत्तर देता तस्य पृथक सत्व अभावात स्वरूपेण व्यवहार अंगत्वादि तुक्तम अन्यत्र अभाव जो सब विशेष अभाव है उसका तो पृथक सत्व भाव तो पृथक सत्ता है ही नहीं मीमांसा का मत क्या मीमांसा में अभाव अधिकरण से कुछ अलग है ही नहीं और वेदांत में जो अभाव कहते विशेष अभाव जिस प्रकार सब प्रपंच कल्पित है विशेष अभाव नाम को कोई पृथक धर्म है ही नहीं पृथक यदि ब्रह्म से कुछ भी मान लेंगे सर्वम खलुदम ब्रह्म ये श्रुति विरुद्ध होता है वासुदेव सर्वम विरुद्ध होता है निर्विसाखी चेता केवल निर्विस निर्गुणश्च निष्कल निरवयव शांतम ये सब कहा गया विशेष कुछ भी नहीं है तो अभावनाओं का विशेष भी उससे भिन्न नहीं है तो फिर निर्विशेषता निर्विशेष कैसे शब्द प्रयोग करेंगे सर्वपत ऐसे कहा जाता है पृथक सत्ता नहीं सर्वपण व्यवहारंगत्वात् ऐसे व्यवहार का अंग चयन व्यवहार से तो तत्स्वरूपम कल्प्यते व्यवहार या स्वरूप कल्पना करते ऐसे कल्पित स्वरूप से व्यवहार कल्पित स्वरूप को लेकर व्यवहार हो सकता है होता है कल्पित स्वरूप को लेकर कैसे यह सर्प सर्प सरज्जु सर्प रज्जु है सर्प कल्पित है वास्तव है तो उस रज्जु को दिखाते रज्जु कहाँ है कहाँ कतई सर्प ही रज्जु है कल्पित सर्प का अनुवाद किया जाता है रज्जु को बताने के लिए इसे व्यवहार होता है कल्पित स्वरूप को लेकर व्यवहार हो जाता है व्यवहार होने मात्र से पृथक सत्ता की सिद्धि नहीं होती है इसलिए आपत्ति नहीं इति उक्तम अन्यत्र अन्यत्र भाष्य वार्तिकादु कहा गया विचार बहुत करके अभाव कोई अलग पृथक सत्ता है ही नहीं यदि सौक्ल्यादिवत कोपि विशेष अवविशय तदात तो अवक्षत उत्तर जो ब्रह्म क्या है मनादि का प्रेरक कौन है स्पष्ट बता देना चाहिए हम है ऐसा है तो ये नहीं कह करके सूत्र का स्वतः चक्षु का चक्षु ये क्या उत्तर हुआ तो उसका उत्तर दिया था यदि कोई विशेष होता तो विशेष कहते शौक्ल आदिवत शुक्लत्वम जैसे शुक्लपट यदि विशेष होता है वस्त्र आदि शौक्लम है नीलम उत्पलम रक्तोत्पलम कोई विशेष यदि पट आदि अनात्म पदार्थ में कोई विशेष होता है क्या होता है या नहीं होता है क्योंकि सिर हिलाते नहीं होता है दिमाग लगाना पड़ता है अनात्म पदार्थ में विशेष रहेगा अनात्म पदार्थ है सब विशेष रहता है यही से विशेष यदि कोई आत्मा में होता तदा तम अवक्षत लिंग लकार किस सूत्र से लिंग आता है लिंग निमित्त लिंग ज्ञातिपत्तो क्रियातिपत्तो ऐसा होता तो कहते ऐसा नहीं तो नहीं कहा जाता है ऐसा नहीं है कोई विशेष नहीं है श्रुतिस्तु उपलक्षण वृत्त्याव प्रतिवचन ब्रुवाणा निर्विशेषत्व मन्यते इति श्रुति अनुसारात गम्यते इत्याह श्रुति जो कहती श्रोत्र से श्रोत्रम श्रोत्र का श्रोत्र कहें तो आत्मा में श्रोत्रत्वम मनस्तम प्राणत्वम ये सब आ जाएगा तो ऐसे उपलक्षण वृत्तिया उपलक्षण वृत्तिया तो उपलक्षण रूप से काकव देवदत्त से गृहम काक बैठा है देवदत्त घर देवदत्त घर में हमेशा काक रहता है क्या खाली परिचय करने के लिए अविद्यमान कवि कुछ दे करके कल्पित धर्म को ले करके कल्पित धर्म भी व्यावर्तक होता है रज्जु कौन सा है कहते जो सर्प हुई रज्जु है सर्प कल्पित को लेकर के अन्य नहीं रज्जु देखते रज्जु कहाँ रज्जु कहाँ ढूंढ रहा है वहाँ तो सर्प है कोई कहते सर्प ने रज्जु है वो देखता है सर्प तो वहाँ है रज्जु कहाँ है देख रहा है ढूंढ रहा है रज्जु कहाँ है तो सर्प है रज्जु कहाँ है बोलते सर्प ही रज्जु है अतः जो सर्प उसको देखो वही रज्जु है अन्यत्र नहीं ढूंढो वो क्या सोचता कोई यहाँ तो सर्प है और रज्जु कहाँ रखा गया ढूंढ रहा है तो अन्य पदार्थ ढूंढ रहा है तो कहिए व्यावर्त का अन्य पदार्थ रज्जु नहीं सर्प ही रज्जु तो कल्पित सर्प भी व्यावर्तक हुआ वेदक हुआ ऐसे व्यवहार होता है तो व्यवहार होता है तो उपलक्षण रूप से कहती उपलक्षण वृत्तिया वहाँ विशेष बताया घर में तो साधारण समान है विशेष है ही नहीं वहाँ काक बता दिया यहाँ स्वसत्व प्रयुक्त इतर सा यहाँ कोई विशेष है ही नहीं बिल्कुल वहां तो विशेष है एक दिखा दिया यहाँ निर्विशेष स्वरूप है कोई विशेष नहीं इसी प्रकार ही उसका उपदेश किया जाता है सूत्र आदि में जो निमित्त है वही ब्रह्म है निर्विशेषत्व मन्यते श्रुति श्रुति मानती ब्रह्म निर्विशेष अक्षर अनुसाराद थे शब्द प्रयोग से इसे निश्चित होता है ब्रह्म में कोई विशेष नहीं है अनुगमात ऐसे वचन का अर्थ हुआ निर्विशेष कैसे अनुगमात तद अनुगमगतानि ही अत्र अस्मिन् अर्थे अक्षराणि श्रुति का अनुगम होता है अनुगम होता है उसको श्रुति बताती प्रतिपादन करती है तद अनुगतानि इस अर्थ में अनुगत है अस्मिन् अर्थे अक्षराणि इस अर्थ में अक्षर प्रतिवचन उत्तर वाक्य का अर्थ अनुगत उसको प्रतिपादन करते हैं श्रुति घटकानि वक्षराणि अस्मिन् अर्थे अनुगतानि प्रतिवचन अर्थ में अर्थ निर्विशेषत्वन गमकानी निर्विशेष का गमक ज्ञापक है शब्द ये श्रुति में जो शब्द आया अक्षर सारे शब्द इस अर्थ का ज्ञान कराते हैं इस अर्थ में अनुगत है उस अर्थ को ज्ञान कराते उस अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए शब्द सब उसी को ही कहते हैं अस्मिन अर्थे अनुगतानी श्रुति अक्षराणी कथम टीका में निर्विशेषत्व वाचक पदाभावात कथम निर्विशेष अनुगम निर्विशेष अर्थ को बताने के लिए ज्ञान कराने के लिए ये श्रुति वाक्य में अर्थ है शब्द है अक्षर है तो अक्षर का अनुगम निर्विशेष में कैसे हुआ कोई निर्विशेष वाचक शब्द तो नहीं निर्विशेषत्व वाचक पदाभावात श्रोत्र से सूत्रम चक्षु तो चक्षु मन का मन प्राण का प्राण इसमें कोई निर्विशेषत्व का वाचक पद नहीं रहा तो निर्विशेष अर्थ में अक्षर का अनुगम अक्षर और शब्द कैसे निर्विशेषत्व को ज्ञान कराएगा ऐसा शंका करता है कथम निर्विशेष अर्थ में कैसे अक्षर अनुगत है तो उसका उत्तर देते हैं टीका में निर्विशेष से वाचक शक्तिया वाक्यार्थत्व भावेपि उपलक्षण वृत्तिया भविष्यति इति अभिप्रेत्य श्रोत्र शब्द से तावत मुख्यार्थतम आह निर्विशेषस्य वाक्यार्थत्व भावेपि वाक्य का अर्थ निर्विशेष नहीं होता है वाचक शक्तिया शक्ति के द्वारा निर्विशेष अर्थ सिद्ध नहीं होता है शब्द की शक्ति अर्थ में अर्थ शब्द का एक संबंध है इसको शक्ति कहते हैं शक्ति शब्द में शक्ति है सामर्थ्य है शब्द सुनने से अर्थ का स्मरण हो जाता है जो शब्द अर्थ का संबंध को जानता है शब्द अर्थ का संबंध को शक्ति कहते हैं पद पदार्थ संबंध यो ईश्वर इच्छा है शक्ति अस्मात् पदात अयम अर्थ बोधव्य हमको घट पद से इसी अर्थ को समझना चाहिए पुष्प पद से इसी अर्थ को समझना चाहिए ईश्वर संकेत है तो पद पुष्प कहेंगे तो घट अर्थ का स्मरण हो जाता है नहीं घट कहेंगे तो पट का घट का स्मरण होगा घट कहेंगे तो तो घट अर्थ के साथ घट पद का कोई संबंध है तो घट कहन से घट अर्थ का स्मरण हुआ अब पट कहेंगे तो घट का स्मरण नहीं होता है पट पद का घट अर्थ के साथ संबंध नहीं यह जो पद पदार्थ का संबंध इसको कहते शक्ति ईश्वर इच्छा है शक्ति शक्ति का विषय होता अर्थ और शक्ति का निरूपक होता पद पद निरूपित शक्ति अर्थ में है अर्थ में शक्ति है शक्ति का निरूपक पद इसे पद को शक्त कहते हैं शक्ति वाला शक्ति रश्मि अतिथि शक्त अर्षादि अच हो जाएगा शक्त है पद अर्थ होता है शक्य वाच्य अर्थ को शक्यार्थ कहते हैं एक पद का वाच्यार्थ होता है गंगा पद का वाच्यार्थ है प्रवाह गंगा प्रवाह किंतु कभी-कभी लक्षणा से प्रयोग करते तट को भी गंगायाम घोष गंगा में गंगा तीर को गंगा शब्द से कह दिया लक्षणा से भी शब्द प्रयोग होता है इसी प्रकार निर्विशेष का वाचक कोई शब्द नहीं है प्रतिवचन में निर्विशेष ब्रह्म का वाचक शब्द कोई है ही नहीं जितने शब्द है ब्रह्म सत तत जितने शब्द ब्रह्म को कहने के लिए सारे शब्द सविशेष ब्रह्म को कहेंगे ईश्वर को कहेंगे उसमें शक्ति है अशुद्ध ब्रह्म निर्विशेष को कहने के लिए लक्षणा के द्वारा कहेंगे ब्रह्म शब्द भी का ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ ईश्वर है ईश्वर शब्द का जो वाच्यार्थ ब्रह्म शब्द का भी वही वाच्यार्थ है सदैव समिदम अग्र सत्य का भी वही है लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे निर्विशेष कोई शब्द का वाच्यार्थ नहीं वाचक शक्ति से किसी शब्द का अर्थ निर्विशेष नहीं है किसी वाक्य प्रतिवचन वाक्य का अर्थ निर्विशेष नहीं शक्ति के द्वारा नहीं शक्ति के द्वारा नहीं होने पर भी उपलक्षण वृत्तिया से के वृत्ति है वृत्ति तो न्याय मत में कहते शक्ति लक्षणा अन्यतर संबंध वृत्ति है शक्ति के द्वारा नहीं तो लक्षणा के द्वारा और व्याकरण आदि के व्यंजना वृत्ति मानते हैं वे लक्षणा के अंदर अंतर्भूत हो जाएगा इसको कहा उपलक्षण वृत्तिया लक्षणा से विशेष शब्द विशेष अर्थ का वाचक ही वाक्य हो जाएगा वाक्य का वाच्यार्थ तो नहीं किंतु लक्ष्यार्थ हो जाएगा निर्विशेष ब्रह्म हो जाएगा लक्षणा से इत अभिप्रत्य श्रोत्र से श्रोत्रम दिया है तो श्रोत्र शब्द का पहले मुख्यार्थ कहते हैं श्रोत्र को समझे पहले अर्थ उसका श्रोत्र क्या होगा ये लक्षणावृत्तिया के लिए टिप्पणी दिया उपलक्षण पांच नंबर में कयाचि लक्षण इति यावत उपलक्षण लक्षण लक्षणासि यथा व्यंजन व्यंजना व्यंजनानुपलक्षण व्यंजनया गच्छ गच्छसि चेत कांत पंथान संतुते शिवा ममापि जन्म तत्रैव भूयाद यत्र गतो भवान पत्नी अपने पति को कहती है विदेश जाते समय गच्छ गच्छ चित कांत हे कांत गच्छति से गच्छति से गच्छति चेत गच्छ जाते हो तो जाओ कोई बात नहीं किंतु पंथान संत हां आगे पंथान संत देशिवा आपके मार्ग कल्याण में हो आप जाओ प्रसन्न होकर जाओ ममा भी जन्म तत्रैव भूयात मेरा भी जन्म वही हो जाए यत्र भवान गतो भवेत यत्र भवान गतो भवे यत्र भूयात यत्र गतो भवान जहां आप जाए वहीं जन्म हो जाए वहां जन्म हो जाए मतलब मरण के बिना जन्म होगा क्या तो आप जाओ हमारा मरण हो जाए और वहीं जन्म हो जाए अर्थात जाओगे तो हमारा मरण हो जाएगा तो जाने के लिए मार्ग आपका संपन्थान संतुते शिवा जाओ कर कहती नहीं जाओ ये कहने का बस जाने पर मरण हो जाएगा नहीं जाओ कहने के लिए जैसे विषम भुक्ष पुत्र खाना जाता है शत्रु के घर में भोजन के लिए पिता से पूछा पिता कह जाओ विषम भुक्ष विष खाओ विष खाओ का अर्थ जाकर विष खाने के लिए पिता आदेश देते हैं नहीं जाओ ये लक्षण से कह जाते हैं इसी प्रकार यहाँ लक्षण से कहते निर्विशेष कोई विशेष नहीं है सब विशेष का निषेध कर देंगे तो निर्विशेष हो जाएगा निर्विशेष शब्द नहीं होने पर भी सारे विशेष का निषेध कर देंगे तो निर्विशेष अर्थ अपने आप आ जाएगा ऐसे श्रुति कहती है ब्रह्म को उपदेश करने के लिए कोई वाचक शब्द नहीं है इसलिए सारे विशेष को निषेध करके नेति नेति कह करके नेह नानास्ति अस्थूलम अननु अहर्षम सब सबका निषेध करके ही ब्रह्म का उपदेश करती श्रुति अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि श्रुति भी चकित डरती हुई कहती है कहीं शक्ति से नहीं शब्द शक्ति सामर्थ्य सक्यार्थ को नहीं कहती अतद व्यावृत्या तदे ब्रह्म अतदे ब्रह्म भिन्न ब्रह्म भिन्न की व्यावृत्ति निषेध करके ब्रह्म भिन्न का निषेध करके ही श्रुति कहती ब्रह्म को ब्रह्म भिन्न सब का निषेध करेंगे तो क्या रहेगा बचेगा कुछ नहीं बचेगा ब्रह्म रहेगा ब्रह्म बिना सब का निषेध करें तो ब्रह्म ही रहेगा ब्रह्म को बताने के लिए ब्रह्म बिना सब का निषेध कर दिया यहाँ भी इस प्रकार श्रुति कहती लक्षणा से कहती है लक्षणाभूति वाचक शक्ति से कोई शक्ति से किसी पद कहा नहीं कर सकता है वाक्यार्थ तो अभावी उपलक्षण भूत्या भविष्यति वाक्यार्थ निर्विशेष सारे विशेष का अभाव कौन से निर्विशेष हो जाएगा तो अभिप्रेत्य अभी श्रोत्र का श्रोत्र कहेंगे श्रोत्र का श्रोत्र क्या है श्रोत्र शब्द का मुख्य अर्थ पहले कहते उसका श्रोत्र क्या होगा अनेनेति श्रोत्रम जिसके द्वारा मनुष्य सुनता है वो श्रोत्र श्रवण इंद्रिय तस्य शब्दाभासकत्वम श्रोत्रत्वम तस्य श्रोत्रस्य श्रोत्र में जो शब्दाभासकत्व शब्द का अवभासक ज्ञापक वा श्रवण इंद्रिय श्रवण इंद्रिय में शब्द आभासक तो धर्म रहा वही श्रोत्रत्वम श्रवण इंद्रिय में श्रोत्रत्वम किम शब्द आभास शब्द अभाषे प्रकाश ज्ञान ज्ञान जनक शब्द ज्ञान जनक तस्य तनिष्ठ निष्ठ जो शब्दाभाषकत्व तो वही श्रोत्रत्व में टीका में शब्द आभासकत्वम स्वशक्तिव भविष्यति श्रोत्रस्य कथन तस्य शब्दाभासकत्वेन आत्मा उपलक्षितव्य श्रुत्र में जो शब्दाभासकत्व है श्रवण इंद्रिय में सामर्थ्य है शब्द का प्रकाश करता है तो उसमें शब्दाभासकत्व रहेगा शब्दाभासकत्व अपने सामर्थ्य में श्रोत्र में आ जाएगा भविष्यति श्रोत्र से कथन तस्य शब्दाभासकत्व आत्मा उपलक्षितव्य श्रवण में शब्दाभाषकत्व है इतने कहन से आत्मा का कैसे ज्ञान होगा आत्मा को लक्षण कैसे करेंगे आत्मा के उपलक्षण कैसे बनेगा का उपलक्षण होता है देवदत्त घर का काक गव ब देवदत्त से गृहम यहाँ शब्दावासक तो श्रवण इंद्रिय में सत है आत्मा के साथ क्या संबंध है ऐसा आकांक्षा पर कहता है कहते हैं भगवान का भाष्य में कहा गया शब्द उपलब्धि रूपत अभासकत्वम न स्वत श्रोत्र से अचिद रूपत्वात् श्रोत्र चिद रूप नहीं जड़ है जड़ होने के कारण सतह उसमें शब्द अवभाषकत्व तो नहीं आ सकता है शब्द का ज्ञान जनक श्रवण श्रवणेन्द्र जड़ नहीं हो सकता है जड़ के शब्द प्रकाशक नहीं हो सकता है तो फिर कैसे शब्द अभाषक तो सूत्र में शब्द उपलब्धि रूपतया शब्द से उपलब्धि है जीव शब्द उपलब्धि रूपतया उपलब्धि तादात्म्य ना शब्द उपलब्धा के साथ तादात्म्य होने पर श्रवण इंद्र में स्वभाषकत्व अहम श्रुणोमि कहते समय श्रवण इंद्र में शब्द अवभाषकत्व है शब्द अवभाषक होता है सुनने वाला श्रोत्र कैसे हुआ शब्द सुनने वाला श्रोता और श्रवण इंद्र दोनों का तादात्म्य करके ही अहम श्रुणोमि शब्द उपलब्धि रूपतया शब्द उपलब्धा शब्द का जो उपलब्धा है ज्ञाता जैसे अयो दहति जलम दहति जल को जो नहीं जो जला देगा बहुत गर्म है जल हाथ लगान से कोई कष्ट होगा क्या हैं कष्ट होगा वहाँ जो जल में दहन है दहन कर्तृत्व जल में जो कहते हैं अग्नि तादात्म्य न दहन कर्तृत्व दहन कर्तृत्व दाहकत्व तो वन में है जल का धर्म नहीं है अयो दहत में लोहा में जो दह दाहकत्व लोह के अग्नि के साथ तादात्म्य होने पर दोनों में एकता लौह अग्नि में एकत्व होने से अग्नि का धर्म लोह में प्रयोग करते दाहकत्व इसी प्रकार श्रवण इंद्र जड़ है उसमें उपलब्धि तो शब्द प्रकाशकत्व धर्म नहीं रहेगा वो चेतन का धर्म है जड़ में कैसे रहेगा तो चेतन जो उपलब्ध है उसका तादात में होकर के उसमें उपलब्धित्व का प्रयोग होता है स्वतः का अर्थ में के बिना नहीं हो सकता है उपलब्धित्व जड़ में शब्दाभासकत्वम शब्द उपलब्धि रूपतया शब्द उपलब्धि रूपतया उपलब्धा उपलब्धि जीव तद रूपत्व न तद तादात्म्य होकर के श्रवण इंद्रिय में अभाषकत्व है न कि स्वतः क्योंकि स्वतः से अचित रूपत्व तो, तो जड़ है टीका में शक्ति सतः प्रकाशमान से वाच्या नासत्व अप्रकाशमानस्य नर विषाणय विषाणयमानत्वेन शक्तिमत्व तो अनुपदे शक्ति जिसमें है वन्य में शक्ति दाहक शक्ति दिखती है नहीं वन्य तो दिखती है दाहक शक्ति नहीं दिखती है शक्ति प्रत्यक्ष नहीं शक्ति वाला है वन्य शक्ति कार्य से अनुमित होती है अग्नि स्पर्श करो दाह स्फोट होता कार्य से अनुमान करते इसमें शक्ति है शक्ति जिसकी है किसी की शक्ति किसकी शक्ति कोई भी दिखता है तो उसमें शक्ति का निश्चय होगा अब जो नहीं दिखता उसमें शक्ति कैसे निश्चय होगा सतह जो है उसकी शक्ति होगी जो नहीं उसकी शक्ति क्या दिखेगा शक्ति दिखेगी सतह का विद्यमानस्य प्रकाशमानसेव शक्तिर्वाच्या जो विद्यमान हो और प्रकाशमान हो दिखता है प्रकाशमान है उसकी शक्ति कहनी चाहिए प्रकाशमान कौन से इन अन्य के द्वारा प्रकाशित हो तो स्वयं प्रकाश हो अलग बात है प्रकाशमान हो उसकी शक्ति कहनी चाहिए जो असत है नर विषाण बंध्यापुत्र के समान उसकी शक्ति अधिक है बंध्यापुत्र की शक्ति या सस्य विषाणी की शक्ति अधिक है नर विषाण सस विषाण बंध्या पुत्र असत्य की शक्ति नहीं है अप्रकाशमान से शक्ति न बात नहीं कह सकते हैं जो विद्यमान हो प्रकाशमान हो उसकी शक्ति कहनी चाहिए विद्यमान होने पर जो नहीं प्रकाशते दिखता नहीं तो उसकी शक्ति कैसे कहेंगे इसकी ये शक्ति है कोई विद्यमान है किंतु दिखता नहीं तो उसकी शक्ति कैसे कहेंगे विद्यमान पिशाच है किंतु दिखता नहीं तो कुछ कार्य हो तो पिशाच की शक्ति कैसे निश्चय होगा पिशाच देखा नहीं इसलिए विद्यमान हो और प्रकाशमान हो तो इसकी यह शक्ति न असत अप्रकाशमानस्य नर विषय नर विषाणाय माने न नर विषाण इव आचरति नर विषाण नयति नयते नर विषाण विषाण माने न नर विषाण के समान जो होता है नर विषाण के समान सब जितने तुच्छ है नर बंध्या बंध्यापुत्र सस्य विषाण मुसक विषाण चूहा का विषाण और सस्य का विषाण नर विषाण सो तुच्छ के लिए दृष्टांत देते हैं उसके समान जो अत्यंत असत्य अप्रकाश माने उसकी शक्ति नहीं हो सकती शक्तिमत्व अनुपपत्ते बंध्यापुत्र में क्या शक्ति बंध्यापुत्र ही नहीं तो शक्तिमत्व कैसे होगा इसे जो विद्यमान हो प्रकाशमान हो उसकी शक्ति कहनी चाहिए तो विद्यमान है तो सत्ता है प्रकाशमान प्रकाश सत्ता प्रकाशस्य आत्मरूपम सद्रूप प्रकाश आत्मा ही है सत चित चित प्रकाश ज्ञान तद भेदे माना भावात आत्म से भिन्न कोई सत है सत्ता प्रकाश माना भावात माना भावात कैसे टीका में त्रिपणी में अहम अस्मि ऐसा ज्ञान किसको होता है कभी संदेह होता है अहम अस्मि नवा भ्रांति अहम नास्मि कई भ्रांति होती है सद्रूप है निश्चित है ये सद्रूप आत्मा है आत्मा से भिन्न यदि आत्मा यदि सद्रूप नहीं होगा तो अहम नास्मि ऐसे ज्ञान होना चाहिए आत्मा यदि सद्रूप नहीं सद से भिन्न है तो क्या कहना चाहिए अहम नास्मि और नस्पुरामी आत्मा रूप है अम भामि स्फुरामि न स्फुरामि से नहीं होता है, होता है तो आत्मा सद्रूपे स्फुरन रूपे सदे चिद है यही प्रमाण है और यदि नास्मि न स्फुरामि ऐसे ज्ञान होता तो सत से आत्मा से भिन्न सत तथा प्रकाश होता अत उपलब्धि तादात्म्येनैव श्रोत्र से अभाषकत्वम न स्वातंत्रेण जडत्वादम उपलब्धा जो शब्द का उपलब्धा उपलब्धि करने वाला जानने वाला जीव उसके तादात्म्य होकर के श्रोत्र में अभाषकत्व श्रोत्र में अभाषकत्व सत्ता नहीं है तादा स्वातंत्र न जड़ होने के कारण जड़स्य च सत्ताहीनत्व असुक्ति रूप से ही अर्थ जड़ के अपनी सत्ता है नहीं जैसे सुक्ति में रजत रज में सर्प रज में जो सर्प दिखता है वो सर्प की सत्ता भ्रांति काल में है या भ्रांति के पहले रहता है रहती है भ्रांति के बाद कभी नहीं है तीनों काल में है ही नहीं जैसे रज्जु सर्प की सत्ता है ही नहीं इसी प्रकार जड़ की सत्ता नहीं होती है सत्य ब्रह्म है जड़ की सत्ता नहीं जड़ में जो सत्ता दिखती है घटो अस्थि अथवा घट से सत्ता जब कहते हैं अधिष्ठान सदरूप ही घट के साथ एक होकर के अधिष्ठान की सत्ता घट में दिखती है अधिष्ठान घटो अस्ति कहते घट सन घटो अस्ति पटो अस्ति कहते व्यवहार तो करते हैं विचार करेंगे तो उसमें पता नहीं चलता घटो अस्ति क्या अस्ति क्या घट क्या घट और अस्ति सद दोनों एक क्या भिन्न है घट सन घट अस्थि का अर्थ घट सन सत शब्द का अर्थ घट शब्द का अर्थ एक या भिन्न है घट सन कहते जो घट हुई वही सन है यो घट सो अस्थि घट अस्थि घट ही सन है एक लगता है किंतु घट सत सन पट सन पत्रम सत पुष्पम सत सत सत सत सब के साथ अन्वय होता है अयम अस्ति अयम अस्ति अयम सब अस्ति सात घट एक सत सात पट एक तो घट पट एक हो जाएगा घट पट है क्या घट पट है घट पुष्प है घट फल है कुछ नहीं किंतु घट सन सन घट यदि एक होगा ऐसे पट आदि सन सन है पट आदि घट घट होना चाहिए घट घटोस्ति घट सन यदि एक होगा सत पट पत्र पुष्प फल सब के साथ सत का अन्वय होता है सत घट एक हो तो पट घट पत्रम घट पुष्पम घट ऐसा हो तो सत एक है सब के साथ अनुगत हो गया घटपट आदि व्यावृत हुआ जो सब सर्वत्र है अनुगत वो सत भिन्न है घटपट आदि व्यावृत है एकत्र है एकत्र नहीं है जो व्यावृत होता है एकत्र एकत्र नहीं व्यभिचारी है वो मिथ्या है कल्पित ना भाव विद्यते सत सत का अभाव नहीं होता है ये घट यहाँ है ये पट है यहाँ घट है घट का अभाव हो गया घट का अभाव हो गया तो घट को सत कहेंगे सत घट शब्द प्रयोग तो करते हैं सत घट कहते घट सन कहते अधिष्ठान की सत्ता घट में दिखती है रज में सर्प दिखते समय भ्रांति काल में कहते सर्प अस्ति उस समय सर्प है या नहीं ब्रह्म काल में ब्रह्म काल में सर्प है या नहीं कोई कहते हे नहीं ये ब्रह्म काल में भी यदि रहेगा तो भ्रांति क्यों होगी यदि सर्प है सर्प ज्ञान हुआ तो यथार्थ हो जाएगा भ्रांति क्यों और यदि तो सर्प वहां रहता तो आपको सर्प दिखते समय वहां बच्चा हंस रहा है इतने बड़े आदमी देखो सर्प सोचकर भाग रहे यदि सर्प समाएगा बच्चा वहां रह सकता है वो भी भागना चाहिए सर्प है ही नहीं सर्प नहीं होने पर भी सर्प अस्थि कहते हैं अधिष्ठान रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है इसी प्रकार घटो अस्थि पटो अस्थि कहते समय एक सद्रूप का संबंध घटपट आदि सब के साथ होता है जो सद्रूप एक है सर्वत्र अनुगत है घटपट आदि व्यभिचारी है मिथ्या है कल्पित है यत सर्वत्र सर्वदा जो सर्वत्र हो सर्वदा हो वही आत्मा है एकत्र है एकत्र नहीं कभी है कभी नहीं वह अनात्मा है जड़ से सत्ताहीनत्वात् सुक्ति रूपे से जड़ में सत्ता अपनी सत्ता नहीं अधिष्ठान की सत्ता उसमें दिखती है सुक्ति रजते के समान श्रवण इंद्रिय भी जड़ है श्रोत्र से अभाषकत्व उपलब्धि तादात्म्य यदि उपलब्ध उपलक्ष्यते तरी उपलब्धुरपि अभाषकत्वम अन्याधीनम इति अनवस्था प्राप्नोति इति आशंका अभी श्रवण इंद्रिय में जो अभाषकत्व आया किस प्रकार हुआ उपलब्धि तादात्म्य न उपलब्धाए शब्द का श्रोता जीव तो तादात्म्य उसके साथ एक रूप हो करके के इंद्र में अभासकत्व अहम श्रवण श्रवणेन्द्र में जो शब्द अवभाषकत्व प्रकाशकत्व है उपलब्धा ज्ञाता के साथ तादात्म्य हो करके यदि उपलब्धा उपलक्ष्यते उपलब्धा ही उपलक्ष्यते उपलब्धा ही उपलक्षित लक्षित होता है उपलब्धि का करता जो उपलब्ध है आत्मा वो भी शब्द का अभाषक है श्रवण इंद्र में शब्द अभाषक उपलब्धि तादात्म्य न उपलब्धा में जो शब्द अभाषक तो फिर किसके तादात्म्य मानना पड़ेगा श्रवण इंद्र में शब्द प्रकाशकत्व तो उपलब्धा के तादात्म्य न उपलब्ध आत्मा में शब्द अभाषकत्व तो फिर दूसरे तादात्म्य न दूसरे में शब्द भाषकत्व अन्य किसी के में न अनवस्था दोष है तरी उपलब्धुरपि अभाषकत्वम उपलब्धा में जो शब्द प्रकाशकत्व है अन्याधीन अन्याधीन अन्य के कारण हो जाएगा और अन्य में जो सब भाषकत्व भी अन्याधीन इत तो अनवस्था प्राप्नोति अनवस्था दोष है अनवस्था मूल क्षय करी इसे शब्दाभाषकत्व श्रवण इंद्रिय में उसका प्रकाश हो कोई कुछ सिद्ध नहीं होगा इत आशंका आत्मन से चिद रूपत्वात् आत्मा चेतन है श्रवण इंद्र जड़ होने के कारण उसमें शब्द अभासकत्व सत नहीं हो सकता है चेतन आत्मा के तादात्म्य होकर के शब्द प्रकाशकत्व एक रूपता होकर के और आत्मा चेतन है क्या आत्मा चेतन होने के कारण उसमें जो शब्द प्रकाशकत्व अन्य के कारण नहीं वो चेतन है स्वतः वो भी आगे कहेंगे शब्द भाषक तो वस्तुतः शुद्ध आत्मा में है नहीं वो भी भाषकत्व तो जो धर्म है वो कल्पित है किंतु अधिष्ठान आत्मा में जो शब्द भाषकत्व तो अन्य के कारण नहीं वो स्वतः कल्पित है आत्मा चिद रूप है जड़ में दिखता है तो चेतन संबंध के बिना और जिस चेतन में दिखता है दृष्टा में वो चेतन में चिदाभास कल्पित है उसमें कल्पित कर्तृत्व अभाषकत्व दिखेगा जिसके कारण उसमें अभाषकत्व दिखता है जिसके कारण लोह में दाहकत्व वही वस्तु तो दाहक वन्य अलग है इसको आगे स्पष्ट करें आत्मनस्य चिद्रूपत्वात् ओम आप्यायम